तब चले बान कराल जनु जनुल कोप्यो समर राम, चल श्री निशित निकाम, सिखनिकाम खर तर तीर मुरी चले बीर, भय क्रोध तीन भाई जो भागिरन ते जाय हम निज जपय फिर मरन मन महुठा आयुधयनेक प्रकार ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे प्रभु तनुष सर छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट पिसाय उरसे सभुज कर चरण जह तह लगे मही परन से करत लागत बान धर परत कुधर समान लटकटत तन सतखण्ड पुनि उठत करि पाखण्ड नभ उड़त बहुभुज मुण्ड बिनु मौल धावत रुण्ड खग कंक काक श्रृङ्गाल कटकटहि कठिन कराल तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष बाण चले अत्यंत तीक्ष बाणों को देखकर राक्षसवीर पीठ दिखाकर भाग चले तब खर दूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं चील या क्रौच कौवें आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं कटकटहि कटहि चम्बुकभूत प्रेत पिसाचखर सञ्च बेतालीरकल बजाय योगिनि नन्ञ्च रघु वीर बाण प्रचण्ड खण्डही बटन के उर भुजिरा जह तहं परी धरु धरु धरु करही भय कर गिराम सियार कटकटाते हैं भूत प्रेत और पिसाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं अंतावरी गहि उड़त गे साच कर गहि धावहि बासे मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहि मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोकिन जदल बिकल भट तिसे राधिखर दूषण फिरे अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिसाच दौड़ते हैं ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े सरसक्ति तोमर पर सुशूल एकहि बारहि कर श्री रघुबीर पर अग्नि तन् साचर डारहि प्रभु निमिष महुरे पुसर निवारे पचारि डारे सायका दस दस विसिख उर माझ मारे सकल निशर नायका अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में दस दस बाण मारे मही परत उठे भट भीरत मरतन करत माया अति घने सुर डरत चौदह सहस प्रेत मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथयति कौतुक करो देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरो योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी राम राम कही तनु तजही पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन मह कृपा निधान बर सहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान अस्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सब यही राम है इसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्माण मोक्ष पद पाते हैं कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए